एक शोर है अब्बास है अब्बा अब्बास है अब्बा एक शोर है अब्बास है अब्बा अब्बास है अब्बा अब्बास है अब्बा दरिया पे जो पहुंचा सदुल्लाह का प्यारा अब्बास है अब्बा अब्बास है अब्बा दरिया पे जो पहुंचा सदुल्लाह का प्यारा ललकार के फिर फौज को गाजी ये पुकारा तुम सब यही कहते थे कि दरिया है हमारा अब देखो के दरिया है हमारा के तुम्हारा लो छीन लो ये हम है ये कब्जा है हमारा दरिया है हमारा दरिया है हमारा दरिया है हमारा दरिया है हमारा अब्बास का नारा है अलंकार का नारा दरिया है हमारा दरिया है हमारा लो छीन लो ये हम है ये कब्जा है हमारा दरिया है हमारा दरिया है हमारा अब से अलमकार अलमकार अब से अलमकार अलमकार अलमकार मैं दर करार के साए में पला हूँ मैं फातिमा जहरा की दुआओं का सिला हूँ अब्बास मेरा नाम अलमदार वफा हूँ ये नाम नसब है मेरी किस्मत का सितारा दरिया है हमारा दरिया है हमारा लो छीन लो ये हम है ये कब्जा है हमारा दरिया है हमारा दरिया है हमारा अब्बास है मेरे देखो बनी हाशिम का हशम साथ है मेरे रुतबा है अलमदार अलम साथ है मेरे लहरा के फररा भी ये करता है इशारा दरिया है हमारा दरिया है हमारा अब्बास का नारा है अलमदार का नारा दरिया है हमारा दरिया है हमारा अलंकार अलंकार अब से अलंकार अलंकार अलंकार अब से अलंकार अलंकार अलंकार साहिल पे जो ये फौज के दस्ते हैं तुम्हारे इकरान में पैबंद जमी हो अभी सारे दरियाओ लटाए अभी कदमों में हमारे एक हश्र बपा कर दू मैं कर दू जो कब्जा है हमारा दरिया है हमारा दरिया है हमारा अब्बास का नारा है अलमकार है हमारा है हमारा भेज के तुमने से बुलाया मेहमान थे लेकिन उन्हें दरिया से हटाया प्यासे ही रहे वो उन्हें पानी न पिलाया अल्लाह ने जिनके लिए कौसर को उतारा दरिया है हमारा दरिया है हमारा अब्बास का नारा है अलम्बार का नारा दरिया है हमारा दरिया है हमारा अब्बास है अलम्बार अलम्बार अलम्बार अब अलंकार अलंकार अलंकार अब से अलंकार अलंकार अलंकार ये हुक्म है आका का न तलवार उठाना वरना मेरी जरबों से नरज था ये जमाना ये फौज जफाकार ये जालिम का ठिकाना एक नैजे से नक्शा ही बदल जाएगा सारा है हमारा

हम देखें कि किस तरह हटाते हो हमें तुम किस हा के मुजाबिर से डराते हो हमें तुम अब नाम न लेना किसी हाकिम का दोबारा दरिया है हमारा दरिया है हमारा अब्बास का नारा है अलम्बार का नारा दरिया है हमारा दरिया है हमारा अलमकार अलमकार अलमकार अब से अलमकार अलमकार अलमकार प्यासा हूँ मगर सुन ले सभी दुश्मन जानी पानी मुझे पीना नहीं ले जाना है पानी हाय मेरे मासूमों की वो तृष्णा दहानी है मश्क सकीना उन्हीं प्यासों का सहारा दरिया है हमारा दरिया है हमारा लो छीन लो ये ये कब्जा है हमारा दरिया है हमारा दरिया है हमारा अब का नारा है अलमकार का नारा अब्बास का नारा है अलमकार का नारा दरिया है हमारा दरिया है हमारा तारीख ने देखा न हिलाल ऐसा वफादार से अलमकार अलमकार अलमकार तारीख ने देखा न हिला ऐसा वफादार अब भी है तराई की जमी पर वो दिल अफगार वो देख जरा रोजे अब्बा से अलमदार एक जिंदा गवाही है ये मरकत का नजारा दरिया है हमारा दरिया है हमारा अब्बास का नारा है बनाया दरिया है हमारा दरिया है हमारा लो छीन लो ये हम है ये कब्जा है हमारा दरिया है हमारा दरिया है हमारा एक शोर है दरिया है हमारा दरिया है हमारा एक शोर है दरिया है हमारा दरिया है हमारा कब्जा है हमारा दरिया है हमारा दरिया है